आसमानों और जमीन को छह दिनों में पैदा किया जबकि इससे पहले उसका सिंहासन यानी अर्श पानी पर था ताकि तुम्हारी परीक्षा लेकर देखे कि तुम में से कौन सबसे अच्छे कर्म करने वाला है अब अगर ए नबी तुम कहते हो कि लोगो मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे तो इनकार करने वाले तुरंत बोल उठते हैं कि ये तो खुली जादूगरी है और अगर हम एक विशेष अवधि तक उनकी सजा को टालते हैं तो वे कहने लगते हैं कि आखिर किस चीज ने उसे रोक रखा है सुनो जिस दिन उस सजा का समय आ गया तो वो किसी के फेरे न फिर सकेगा और वही चीज उन्हें आ घेरेगी जिसकी वे हंसी उड़ा रहे हैं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 कोई है तो बस वे लोग जो सब्र से काम लेने वाले और नेक काम करने वाले हैं और वही हैं जिनके लिए माफी भी है और बड़ा बदला भी तो ए पैगंबर कहीं ऐसा न हो कि तुम उन चीजों में से किसी चीज को बयान करने से छोड़ दो जो तुम्हारी ओर प्रकाशना द्वारा भेजी जा रही हैं और इस बात पर दिल तंग हो कि वे कहेंगे इस व्यक्ति पर कोई खजाना क्यों न उतारा गया या ये कि इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों न आया तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो आगे हर चीज का हवालेदार अल्लाह है أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار वहबित मा सनऊ फीहा वबातिलुम मा कानू यअमलून क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने ये किताब खुद घड़ ली है कहो अच्छा ये बात है तो इस जैसी घड़ी हुई दस सूरतें तुम बना लाओ और अल्लाह के सिवा और जो जो तुम्हारे पूज्य हैं उनको मदद के लिए बुला सकते हो तो बुला लो अगर तुम उन्हें पूज्य समझने में सच्चे हो अब अगर वे तुम्हारे पूज्य तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचते तो जान लो कि ये अल्लाह के ज्ञान से अवतरित हुई है और ये कि अल्लाह के सिवा कोई वास्तविक पूज्य नहीं है फिर क्या तुम इस सत्य बात के आगे सिर झुकाते हो जो लोग बस इस दुनिया की जिंदगी और इसकी शोभा के चाहने वाले होते हैं उनके किए धरे का सारा फल हम यहीं उनको दे देते हैं और इसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती मगर आखिरत यानी परलोक में ऐसे लोगों के लिए आग के सिवा कुछ नहीं है वहां मालूम हो जाएगा कि जो कुछ उन्होंने दुनिया में बनाया वो सब मलिया मेट हो गया और अब उनका सारा किया धरा मात्र मिथ्या है अफमन कान अला बैनतिन मिन रब्बिही वयतलूहु शाहिदुन मिन वमिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामन वरहमह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 ही लाएंगे और इंसान के गिरोहों में से जो कोई उसका इनकार करे तो उसके लिए जिस जगह का वादा है वो दोजख है अतः ए पैगंबर तुम इस चीज की ओर से किसी शक में न पड़ना ये सत्य है तुम्हारे रब की ओर से मगर ज्यादातर लोग नहीं मानते और उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ घड़े ऐसे लोग अपने रब के सामने लाए जाएंगे और गवाही देंगे कि ये हैं वे लोग जिन्होंने अपने रब पर झूठ घड़ा था सुनो अल्लाह की फिटकार है जालिमों पर उन जालिमों पर जो अल्लाह के मार्ग से लोगों को रोकते हैं उसके मार्ग को टेढ़ा करना चाहते हैं और आखिरत का इनकार करते हैं وما كان لهم من دون الله من أولياء لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً वे धरती में अल्लाह को विवश करने वाले न थे और न अल्लाह के मुकाबले में कोई उनका हामी था उन्हें अब दोहरी यातना दी जाएगी वे न किसी की सुन ही सकते थे और न स्वयं ही उन्हें कुछ सूझता था ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खुद घाटे में डाला और वो सब कुछ इनसे खोया गया जो इन्होंने घड़ रखा था तय है कि वही आखिरत में सबसे बढ़कर घाटे में रहें रहे वे लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए और अपने रब ही के होकर रहे तो यकीनन वे जन्नत के लोग हैं और जन्नत में वे हमेशा रहेंगे इन दोनों गिरोहों की मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी तो हो अंधा बहरा और दूसरा हो देखने और सुनने वाला क्या ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं क्या तुम इस मिसाल से कोई शिक्षा नहीं लेते फ़क़ाल अलमलउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराक इल्ला बशरन मिथलना वमा नराक इत्तबअक وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضلهم بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون और ऐसी ही स्थिति थी जब हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा था उसने कहा मैं तुम लोगों को स्पष्ट रूप से खबरदार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो नहीं तो मुझे आशंका है कि तुम पर एक दिन दर्दनाक अजाब आएगा जवाब में उसकी कौम के सरदार जिन्होंने उसकी बात मानने से इनकार किया था बोले हमारी नजर में तो तुम इसके सिवा कुछ नहीं हो कि बस एक इंसान हो हम जैसे और हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में से बस वे लोग जो हमारे यहाँ सबसे नीच थे बिना सोचे समझे तुम्हारे पीछे चलने लगे हैं और हम कोई चीज भी ऐसी नहीं पाते जिसमें तुम लोग हमसे कुछ बढ़े हुए हो बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं उसने कहा ऐ कौम के भाइयों तनिक सोचो तो सही कि अगर मैं अपने रब की ओर से एक स्पष्ट गवाही पर कायम था और फिर उसने मुझको अपनी विशेष दयालुता भी प्रदान की मगर वो तुमको दिखाई न दी तो आखिर हमारे पास क्या साधन है कि तुम मानना ना चाहो और हम जबरदस्ती उसको तुम्हारे सिर चिपका दें